यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें पुकार कर कहा जाएगा कि अल्लाह ताला का गुस्सा तुम पर तुम्हारे अपने ऊपर गुस्से से बहुत ज़्यादा है जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था तो तुम कुफ्र करते थे